अब मूसा ने अपना आसा जमीन पर डाला तो अचानक उसने अजदहा बनकर उस तमाशे को निगलना शुरू कर दिया जो वो झूठ मूठ बना रहे थे